भूत भूतकाल में निष्पन्न जो जागृत में स्वप्न में जो सर्व विषय ज्ञातृत्व जो थी ज्ञान भय नहीं है ज्ञाता तो वही है ना यहाँ भी कि दूसरा आ गया यहाँ कोई ज्ञाता इसलिए कह रहे सर्व विषय ज्ञान नहीं बोल रहे भाष्य टीकाकार स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं सर्व विषय ज्ञातृत्व लक्षण गति तया प्रकार सर्वम असमता ज्ञान तार ज्ञान तृत्व को लेकर के सर्वत्व को जानने वाला जो था वो अब वहाँ सुषुप्ति में रह रहा है इसलिए सुषुप्ति में अविद्या चेतन का नाम प्राज्ञ यदि कहते हैं तो कोई गलत नहीं है तब तक प्राज्ञ शब्द का मुख्य अर्थ नहीं रहा गया तो जब कौन कहा कि हम वहाँ मुख्य अर्थ ले रहे हैं भूतपूर्व गति से मैं गौणार्थ ही ले रहा हूँ गौण संज्ञा ही है वो तीनों कालों का ज्ञातृत्व जो है प्रत्येक काल में होते हुए भी शुद्ध विशेष रूप से जो कथन कर रहा हूँ यह गौण व्यवहार ही है अथवा प्रज्ञप्ति मात्र सेवा साधारण प्राज्ञा अथवा इसलिए हम प्राज्ञ कार्य मान चलो भूत विषय वर्तमान ज्ञान ही नहीं कोई ज्ञान ही नहीं है ज्ञान को ही लेकर के तुम प्राज्ञ शब्द करना चाहते हो तो कोई बात नहीं वह ज्ञान सामान है या नहीं मैं हूँ मैं सुबह सोया हूँ मैं कुछ नहीं जानता था ये जो ज्ञान सामान्य है आका वो है ना घट ज्ञान नहीं पट ज्ञान नहीं मट ज्ञान नहीं भूत ज्ञान नहीं भविष्य ज्ञान नहीं विशिष्ट ज्ञान नहीं है लेकिन प्रद्युक्ति मात्र अस्य एवं असाधारण रूपम प्रज्ञप्ति मात्र ही उस समय में उसका असाधारण रूपेण अनुभूति में आता है अतएव इसका नाम प्राज्ञ इतरी और विशिष्टम अपनी अस्ती इतरी हमने स्वप्न जागृत हो स्वप्न और जागृत में तो क्या होता है विशिष्ट मापी जब प्रज्ञप्ति सामान्य भी है वहाँ और विशिष्ट भी है वहाँ यह अंतर जैसे वहां पर कहना कि प्रतिबोध विदितम मतम केन उपनिषद में जागृत काल में भी सामान्य प्रकाश है सामान्य चेतन है प्रज्ञप्ति मात्र जागृत में भी है स्वप्न में भी है सुषुप्त लेकिन विशेष रूप में क्यों घटपटादि विषय इंद्रिया न होने से वहाँ प्रज्ञप्त मात्र की विशेष प्राकृति है और यहाँ सामान्य रूप में रह जाता है क्योंकि विशिष्ट अन्य घुस गए इसका दृष्टान से आप समझे भी थे वहां पर जैसे कि इस समय में क्या है यहाँ पर सामान्य प्रकाश आपको दिखाई नहीं अब इस पर इधर एक लाइट उधर एक लाइट उधर एक लाइट उधर एक लाइट जला दो टॉर्च जला दो तो क्या हुआ विशेष प्रकाश हो गया लेकिन विशिष्ट प्रकाश कहाँ है वो सामान्य प्रकाश के ऊपर ही तो है कि सामान्य प्रकाश को वहां से हटा दिया और वहां विशिष्ट प्रकाश घुस गया ऐसा हो नहीं सकता है तो सामान्य प्रकाश रूपये अधिष्ठान के ऊपर ही विशिष्ट प्रकाश की अनुभूति हो सकती है और इस प्रकार से होता है लेकिन उस समय आपको वो विशिष्ट प्रकाश के साथ उसका अधिष्ठान रूप विद्यमान तो सामान्य प्रकाश की अनुभूति ही नहीं होती है केवल विशिष्ट का अनुभूति ऐसा वो विशिष्ट सामान्य के साथ तादात्म्य हो जाता है विशिष्ट विशिष्ट ही आपको भान होते रहेगा सामान्य का भान ही नहीं होता और दो विशिष्ट का बीच में सामान्य दिखाई भी देता है उसी प्रकार हम प्रतिक्षण या एक विशिष्ट वृत्ति के बाद दूसरे विशिष्ट वृत्ति के बीच में सामान्य में रहते हैं लेकिन बस पकड़ नहीं पाते हैं इंद्रियों में योग्यता नहीं है इंद्रियों को हमने इतना तीक्ष्ण नहीं किया है उस बीच की अवस्था को ग्रहण कर सके उस सामान्य को ग्रहण यदि वो पकड़ में आ जाए तो जागर के बैठे बैठे ब्रह्म ज्ञानी हो जाए ब्रह्मानुभूति हो जाए तो सामान्य को पकड़ नहीं दृश्य तो अग्रया बुद्धिया इसलिए कहा बुद्धि इतनी तीक्ष्ण करनी पड़ेगी हम उस सामान्य को पकड़ सके जैसे टीवी पर आप देखते रहते हो एक चित्र दूसरे चित्र के पीछे सामान्य प्रकाश है या नहीं वहां भी लेकिन अकल कहा जाता है सामान्य में ये अकल उन विशिष्टों को ग्रहण करता है सामान्य को ध्यान ही नहीं जाता है तो उसी प्रकार यहाँ भी हाल हम लोगों का है जागृत और स्वप्न में इसलिए कहते हैं कि उस समय भी है इस समय भी है लेकिन अंतर क्या है इतर और विशिष्ट विज्ञान मस्ती इसलिए यहाँ पर प्रकृति मात्र का विशिष्ट अभाव होकर के अनुभव हो जाने के कारण से स्वयं प्राज्ञ तृतीय पाद इस लगा यह जो प्राज्ञ है इसलिए हम तृतीय पाद रूपेण साथ परिकल्पना करते हैं इस तीसरे पाद की और भी विशेषता है एश सर्वेश्वर एश सर्वज्ञ एश अंतर्यामी एश योनि सर्वस्व प्रभवाप्यो ही भूतान एश सर्वेश्वर एश सर्वज्ञ ये जो प्राज्ञात्मा है ना यही सबका शासक ईश्वर है यही सर्वज्ञ यही सर्वांतरियामी है यही समस्त प्राणियों का योनीय कारण उत्पत्ति का स्थान है सर्वस्व प्रभाव ही भूताना तेज सर्वस्व योनि अलग कर दो ये संपूर्ण प्राणियों का कारण है और भूतान प्यो ही भूतों के प्रभाव में उत्पत्ति और लय इन दोनों का एकमात्र स्थान होने के कारण यह सब का योनि है सर्वस्व योनि या ही अस्मा यथा भूतानाम प्रवाप्य अतः सर्वस्व योनि ऐसा अनुय कर लेना जिसलिए समस्त भूतों की उत्पत्ति और लय आदि का स्थान विशेष यही है अतएव यही समस्त भूतों का कारण है ये स्वरूपावस्थ सर्वेश्वर साई देविक वेद जात सर्वस्वीषिता ये जो है ना प्राज्ञा आदि देवी दृष्टि कौन से देखोगे वो अंतर्यामी के साथ अभेद को ग्रहण करता है तब कृपा का है आर्य दृष्टिकोण से मंत्र का है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पूर्व मंत्र कथन कर दिया प्राग्ञ का और वही प्राग्ञ जब आदि दैव दृष्टिकोण से देखेंगे आप वह अंतर्यामी के साथ अभिन्न हो जाएगा तब इसको हम कहेंगे ईश्वर अर्थ समष्टि में गुरु को वृष्टि दृष्टिया समझ लो इसको समष्टि दृष्टिया समझे जैसे अन्य में भी आपने कहा नहीं गया था लेकिन ग्रहण करते रहे वृष्टि दृष्टि से उसका नाम विश्व था और वह वैश्वान विराट था वृष्टि तेजस था वह हिरण्य गर्भ नाम से था और अब यहाँ पर वृष्टि दृष्टि प्राज्ञ है और समष्टि से वह ईश्वर है वही जो अंतर्यामी है वही सूत्रात्मा है इधर अनेकों नामों से कहा जाता है यह टीकाकार देखिए प्राज्ञ से आदि देवी के अंतर्याम सावेदन ग्रहित स्पष्ट है आदि दैवी के न अंतर्यामी सह अभेदम गृहता विशेषणांतरम दर्शेती प्राज्ञ प्राज्ञ का विशेषणांतरम को यहां दर्शाया जा रहा है एच ही स्वरूपावस्था सर्वेश्वर ये जो है प्राज्ञा इस समय विद्या के को लेकर स्वरूप में अवस्थित होने के कारण से इसका नाम सर्वेश्वर भी कहा जाएगा भाष्यकार भी इस बात को कर रहे हैं साज दैविक भेद जात सर्वस्व ईशिता आदि दैविक के सहित समस्त भेद समूह का ही यह ईशन करने वाला नियमन करने वाला है शासन करने वाला होने से इसका नाम सर्वेश्वर हो गया नहीं तस्मात जातिन्द्र भूत अन्यम शाम नहीं तस्मात जातिन्द्र भूत कहते जो ईश्वर के अंदर है नैयायिक आदि लोग क्या मानते ईश्वर तटस्थ होता है वैसे हमारे यहाँ ये वेदांत मत में नहीं है यहाँ का ईश्वर तटस्थ नहीं होता ईश्वर जो है आपके कर्म के अनुरूप सारा फल देने वाला है वो तटस्थ हो ही सकता आपके ऊपर अनुशासन भी करने वाला है ये नहीं कि आपके कर्मादि में फल भी दे रहा है तो किसी को स्वतंत्रता नहीं फल देने में ये बात नहीं है इसलिए जब आप जो चाहते तब आपको वो चीज नहीं मिलता है क्यों नहीं दे रहा है कि आप नहीं जान पाते कब कौन सा कर्म फल देने योग्य पकता है वो तो, वही उसको जान सकता है समझ दूसरा नहीं इसे इनका कहना है कि देखो कि भाई नैयायी कावेश तो ताटस्थ्यम ईश्वर से आतिष्ठंत तद आयुक्त और बात बिल्कुल उचित नहीं ठीक है उपादान भिन्नत्व सती जीव भिन्नता मिति ताटस्थ्यत्म उपादान से भिन्न होता है वो जीव से भी जो भिन्न है ऐसे का नाम ईश्वर मानते हैं वो लोग और हमारे यहाँ भिन्न निमित्त उपादान रूता ईश्वर है उपादान से भिन्न है और जीव से भी भिन्न है ऐसे अलग ईश्वर को कल्पना करते हो बैठा हुआ कहीं चाहे वो सात आसमान पर है चाहे स्वर्गलोक में या कहीं भी कहीं बैठा हुआ है बैठ के देख रहा है हमारे यहाँ ऐसा नहीं है जीव से भिन्न कोई ईश्वर नहीं है और उपादान से विभिन्न को ईश्वर नहीं है ये जगत के अभिनिमित्त उपादान कारण इसलिए ब्रह्म का यही उपादान भी है यही निमित्त है यही समष्टि दृष्टिया ईश्वर है वही वृष्टि दृष्टिया इसलिए जिस प्रकार के अन्य लोग कल्पना करते हैं जीवेश्वर भेदादियों को उस प्रकार का हम नहीं मानते तथ्य असामंजस्यात एक सूत्र ही है ब्रह्म सूत्र में सूत्र संख्या दो दो तो सैतीस द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद के सैतीसवा सूत्र है पत्युरा सामंजस्या दिया सूत्र इत्यादि न्याय विरोधा न्याय मानी ब्रह्म सूत्र के न्याय न्याय का अधिकरण होता है नियम और अधिकरण जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के विरुद्ध होने से हम न्याय का अनुमत को स्वीकार नहीं कर सकते टिप्पण में देख लीजिए सूत्र का संक्षेप में कथन कर दिया है उत्पत्ति हो मान ईश्वर से निमित्त कारण मातृत्व नोचितम अभिगंतव्य ईश्वर को निमित्त कारण मात्र मात्र मानना उचित नहीं है ऐसा समझो तथा सती असामंजस्य ऐसे मानने पर क्या होगा असमंजस हो जाएगा क्या असमंजस होगा जी लोके निमित्त कारण भूत कुलार आदि राग द्वेशाधिपत्तम प्रसिद्धम लोक में जो उपायन से भिन्न केवल निमित्त कारण हुआ करता है उसमें राग द्वेश देखने को मिलता है अरे वैसा वो भी है उपायन से भी निमित्त है फिर उसमें भी राग द्वेश घुस जाएगा ईश्वर के अंदर जब वो उपादान से भी नहीं रहेगा खुद ही उपादान जब किसे रागवेश करेगा मैं ही ये बना हूं तो मैं उसे कैसे रागवेश करूं मैं ही कोई चीज बन गया और उससे मेरा रागवेश कैसे होगा हो नहीं सकता है और जब मेरे से भिन्न मान लूंगा फिर राग में जरूर होगा कि भिन्न है ना वो ये भिन्न है तो मैं चाह भी सकता हूँ नहीं भी चाह सकता हूँ ये जाकर स्वानुकूलतम साधुतम स्व प्रतिकूलतम असाधुतम ये लक्षण क्योंकि भिन्न है ना वासय समिति सब महात्मा दुर्लभ सब वासय रूप ही है सब संत और एक संत दूसरे संत को वास्तव में देखेगा तो आपके अनुकूल है प्रतिकूल का प्रश्न कहां से उठेगा है है क्या कहीं संभावना फिर ऐसे महात्मा ही नहीं जो दूसरे महात्मा को वास्तव तो समझ दुनिया को ना समझ पाता दूसरे महात्मा को तो वास्तव समझो वो भी नहीं और यहाँ वास्तव सर्वम के अंदर जड़ चेतन सारे को मानने को कह रहे और यद एक मात्र दूसरे महात्मा को वास्तव मानने को तैयार नहीं है दूसरे मात्र तुम गधा है बोल देता है चलो लड़कते अगर गीता भवन में ऐसे दो महात्मा का प्रवचन हो रहा था एक सुबह देते शाम को सत्संग करते थे सुबह वाले ने नीचे कहा दिया शाम वाले को तो हो क्या जानता है उल्टा सीधा बोलता है सत्संग ऐसे करके बोल दिया और शाम वाले को ऐसे पता चला होते ना भगत चमचे इधर से उधर बोलने वाले तो उन्होंने कह दिया तो शाम वाले अपने प्रश्न हो तो घोड़ा है ब्रह्म नहीं जानता केवल वो क्या जानता है क्या करे एक दूसरे की कह दिए अगर मैनेजर था उसने तो कैसे इनको समझाया जाए इस बात को उसने घोड़ा गला दोनों घास ही तो खाते हैं उसने थाली में जैसे भोजन लगा के देते थे तो थाली में घास रख कर एक सूखा एक को हरा था फल की तरह कर दिया है एक को सूखा एक को हरा घास रख करके दोनों के भोजन रात्रि में भेज दिया थाली में अब जो है थाली खोले तो घास उसमें बड़ा नाराज होने लगे वो लोग दोनों एक साथ पहुंच गए मैनेजर के कशाल क्या तुम्हारा चक्कर गए क्या बदतमीजी तुम्हारी अरे हमारी बदतमीजी आपको दिखाई दे रही ना क्या आप लोगों की अपनी बदतमीजी तो नहीं दिखाई दे रही आपको आप इनको गधा गए इनको आप घोड़ा था ये गधे हैं तो घास खाएंगे तुम घोड़े हो तुम तुम्हें घास खाओ गधे घोड़े तो घास तो खाते हैं फिर क्या खाएंगे क्या तो आप दोनों गधे भी नहीं घोड़े भी नहीं है तो मनुष्य है तो फिर मनुष्य से व्यवहार करो तो हम भी तुमको रोटी डाल देंगे तो काम पकड़ ले माफी मांगने लगे मैनेजर से और कह रहे चलो भाई जो हो गया गलती हो गया दोनों एक दूसरे को माफी मांग लिया आपस में फिर तो दूसरे सवेरे दोनों एक दूसरे की प्रशंसा किया प्रवचन में कहने का भाव बदल देंगे तो मेरे भाव नहीं था जो गधे हैं मेरा भाव अलग था कहने का तत्व अलग था भाव बदल दे बात करते वो तात्पर्य बदल दिए छुट्टी तो कहने का मतलब ये कठिन काम है ना जहाँ आपने भेद मान लिया उपादान अलग है निमित्त अलग है मान लेंगे फिर राग द्वेष जरूर आएगा जब मही उपाय उपादान मही निमित्त मही ही वो चीज बन गया चीज का बनने में मही कारण हो और उसके होने के और व्यवस्था के पीछे मही निमित्त भी बन जाओ दोनों ही मई हो जिस वस्तु के प्रति उस वस्तु के प्रति मेरा राग द्वेष नहीं हो सकता इसलिए कहते हैं असामंजस्य मन लोके निमित्त कारण भूत कुड़ाल आदि नाम राग द्वेशम प्रसिद्धम तत्त ईश्वर से प्रसिद्ध तदाच ईश्वर तनुपत्ते है जो होने दो ईश्वर में राग द्वेश है कल फिर वो ईश्वर के ईश्वर ही खत्म हो जाएगा उसके अंदर भी राग द्वेश आ गया फिर तो वह ईश्वर ही नहीं है नहीं मान ईश्वर भवित मरती कि रागादि वाले को हम ईश्वर कभी मान नहीं सकते अतएव ईश्वर ब्रह्म को प्राग को ईश्वर हम कहते हैं क्योंकि उस स्थिति में वहाँ अपने पादान कारण तो स्पष्टतया प्रतीत होता है इसलिए कहते हैं सारी में जाति सर्वशीषिता नहीं तस्मत जात्यंतर्भूत निशामी वक्त अन्य शब्द है नैयायिकादि नामी वह जैसे नैयायिकादियों के समान जीव से भिन्न कोई परमात्मा जात्यंतर वस्तु है या पुरुष विशेष हो ईश्वर योग योग वाले ने लिख दिया ये क्लेश गर्भाचर अपरामृष्ट पुरुष विशेष हो ईश्वर उस प्रकार के अन्य लोग जिस एक जात्यंतर वस्तु विशेष ईश्वर को पृथक मानते हैं जीव से अलग मानते हैं वो हमें नहीं है यहाँ ईश्वर सर्वेश्वर ईश्वर कर दिया जो जीव अपने आप को सुषुप्ति काल अच्छे देना प्राज्ञ मान रहा है वही प्राज्ञ अपना समष्टि रूपेण उपादान दृष्टिया क्या हो जाएगा वो ईश्वर कार्य दृष्टिया प्राज्ञ और कारण दृष्टिया वही ईश्वर है आध्यात्म में ये प्राज्ञ है आदि दैव में वही ईश्वर है अलग नहीं है इसलिए एश सर्वेश एश योयम प्राज्ञुक्ता सवेश ईश्वर ईश्वर क्या प्रमाण है जी प्राण बंधन में सौम्य मन यह प्राण से क्या लेना अव्याकृत आत्मा ईश्वर प्राण में अव्याकृत आत्मा जो ईश्वर है वही है उसके अधीन है बंधन में उसके अधीन है कौन यह मन अर्थात स्वप्न और जागृत कारणीभूत जो मन है वह होता ही है कारण होता ईश्वर से आता है ईश्वर की उपाधि माया से ही मन उत्पन्न जीवोपाधि अथवा विद्या कह देते हैं इसलिए वास्तव में अविद्या और माया में कोई अंतर नहीं है ये ना सोचा अविद्या का चीज माया उसका कोई कार्य होगा माया का कार्य विद्या ऐसा ग्रहण नहीं करना कभी उपाधि के लेकर के कहा दिया गया जैसे घटा आकाश महाआकाश बोल देते हो इन वास्तव में क्या महाकाश और घटाकाश तो भिन्न नहीं क्या और महाकाश का कार्य घटाकाश है क्या नहीं है उपाधि के कारण से व्यवहार हो गया है शुद्ध अशुद्ध भी नहीं है घटाकाश अशुद्ध कैसे हो गया किसने कहा अविद्या भी वही है त्रिगुणात्मिका है माया भी वही है त्रिगुणात्मिका है सत्य में हम अंतर करते इसलिए सत्य गुण में शुद्ध सत्य मलिन सत्य वहां के सत्वगुण जो है माया में जो सत्वगुण है वो विशुद्ध है इस कारण उसमें ईश्वरत्व है सर्वज्ञता जाता है और वही अविद्या नाम जब मैं देखता हूं उसमें विद्यमान जो सत्व होगा वो मलिन सत्य है कितना ही फर्क है इसलिए शब्द में अंबेडकर उपाधि को लेकर के तत्वता भेद उसके गुणों में वस्तु में नहीं इसी बात को ध्यान रखकर कर रहे प्राण बंधन में सौम्य मन छांद यदि श्रुदय है अयमे सर्वस्व वक्त ज्ञात एश सर्वज्ञ सर्वेश्वरा सहजैविक वेद जात सर्वशीषिता आज देवी आदि सहित समस्त वेद समूह का ही ईशन करने वाला होने से उसको ईश्वर कहते हैं नहीं तस्मात जात्यंत्र भूत अन्य शाम युवा अन्यों में जैसा देखने मिलता है उस प्रकार से यह नहीं है कि जात्यंत्र कोई दूसरा वस्तु नहीं आए आदि लोग जैसे मानते हैं तटस्थ ईश्वर को जो किन पुरुषों से भिन्न है ये जीव जो प्राज्ञ है विश्व प्राज्ञ वाला इससे भिन्न कोई ईश्वर है और वो ईश्वर जो है इन सबका नियमन करता है इस प्रकार का वे लोग जो कथन करते हैं और अन्य शाम यो मैंने अन्य शाम नहीं आय कादि नाम युवा एक जात्यंतर भूतम ये जो जीव घन है जो प्रज्ञान घन है इससे भिन्न कोई दूसरा ही वस्तु है ईश्वर नाम का ऐसा जैसा वो मानते वैसे यहाँ नहीं है क्योंकि इसलिए ऐसा कह दिया ये जो भाग्य है तृतीय पाद वही ईश्वर है कथित समय क्या प्रमाण है आपके पास तो प्रमाण दिया था प्राण बंधन में स्वम्य मना यदि भी वह प्राण शब्द से सत्य है आत्मा है शुद्ध ब्रह्म लेकिन वो भी कहते लेकिन अव्याकृत द्वारा अव्याकृत आत्मना ईश्वरेण अधीनम अव्याकृत आत्मा जो ईश्वर है उसके अधीन इसलिए प्राण शब्द का अर्थ वास्तव में अव्याकृत आत्मा ईश्वर हो गया बंधन का उसके अधीन है कौन यह मन हे सौम्य ईश्वर के प्रमाण इसलिए ये जो अव्याकृत आत्मा है वही ईश्वर है वही प्राज्ञ है सृष्टि में प्राज्ञ नाम से समष्टि में ईश्वर नाम से कहा जाएगा अयम ये वही सर्वस्व सर्वेदास्त ज्ञाता सर्वज्ञ सर्वज्ञ यही जो प्राज्ञ है वह क्या है सकल भेद की अवस्थाओं अर्थात जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्थाओं को भी जानने वाला है इसलिए इसका नाम सर्वज्ञ हो गया एश अंतर्यामी यही जो प्राज्ञात्मा है वो क्या है अंतर्यामी भी है क्यों अंतर अनुप्रविश्य सर्वेशा भूतानाम नियंता भी ये सकल भूतों के अंदर सृष्टा के आधार पर प्रवेश करके नियमन करने वाला भी वही आत्मा है वही प्राज्ञ ये अतएव यथोक्तम सभेदम जगत प्रसूयते यश योनि सर्वस्व इसे जो भेद से जगत है इस जगत की सृष्टि भी उसी आत्मा से उसी ब्रह्म से हुआ से यह सारा जगत है आप इस जिस जगत को देख रहे हो वो जगत कहीं अन्य से पैदा नहीं हुआ कहीं अन्य तो साया हुआ नहीं है अपने से ही पैदा किया हुआ है जैसे दृष्टि सृष्टि बाद में आता है ना दृष्टि से आपने आम खोला आप जैसा देखना चाहो वैसा आप सामने देख रहे हैं और इसी बात को अंग्रेजों ने दूसरे शब्दों में ले लिया मैनेजमेंट थियरियों में पीपल सी और दे टू सी मनुष्य वही देखना है जो देखना चाहता है वही वो देखता है अपने ही संस्कार उसके पास है वासना उसके पास है उसके अनुरूप बाहरी जगत को देखता है और बहिर बहिर विद्यमान के समान अनुभव करने लगता है अच्छा, जितना भी मैनेजमेंट थियरी सिखाता है एमबीए वालों को पढ़ाया जाता है पार्ट एंड सीपीएम बोलते हैं सीपीएम मने यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी नहीं समझना है क्रिटिकल पाथ मेथड बोलते हैं अंग्रेजी में सी मने क्रिटिकल पी मने पाथ या मिस मेथड एक वो है PERT P R T PERT and CPM में बहुत ही प्रमुख दो सिद्धांत है मैनेजमेंट का कि न्यूनतम चल न्यूनतम शक्ति खर्च करके अधिकतम कार्य कर सके अधिकतम लाभ उठाना ये कैसा हो सकता है इस पर चिंतन जब उन्होंने किया अंत वेदांत के दृष्टि सृष्टिवाद में उनको आना पड़ा इसके बिना हम चला नहीं हम जिस चीज को जैसा देखना चल वैसे तो हम देखेंगे हमने पहले भी तो दृष्टान दिया था जो वहां भी चिंतन होता है दृष्टांत का उसमें में भी ये घटना हुई चौराहे पे हाँ वो घटना तो सबके लिए वही है ना ये घटना में भेद है क्या एक्सीडेंट इज एक्सीडेंट हुआ तो हुआ घटना बात खत्म आपके लिए भी हमारे लिए सब लिए क्या हुआ सब सबसे पहले ही कहेंगे एक्सीडेंट हुआ आपने क्या देखा और आज हम मामला फर्क पकड़ जाता है क्या आपने देखा उसे फर्क पड़ जाता है पुलिस जो आ रहता है वो क्या देखता है कौन रॉन्ग साइड से आया उसको गला पकड़ो ज्यादा पैसा मिलेगा और डॉक्टर देखेगा कि उसको कितना घायल हो गया किसको तुरंत यही पर मलम पट्टी की जा सकती है किसको तुरंत अस्पताल उठा के ले जाना है प्राथमिक प्राथमिक चिकित्सा क्या देना है कैसे देना है वो विचार करते रहता है और उसको यही दिखाई देता है कि कौन रॉन्ग साइड है कौन राइट साइड क्या मतलब डॉक्टर और जो मैकेनिक है वो देखता है तो उसने ये गाड़ी ज्यादा टूट फूट हो रखा है इसलिए मालिक को पता ना हमारी कमाई अच्छी चलेगी इसमें रिपेयरिंग करना डेंटिंग पेंटिंग से काम चलेगा नहीं वो कुछ छूट छूट गया है तो वो अपने जो सबसे ज्यादा चखम गाड़ी है उसको देखता है आदमी को नहीं देखता है और वही कोई महिला जा रही है वो देखता रही तो बच्चा बेचारा आप देखो क्या दुर्दशा में पड़ा है पता है माँ बाप को जिंदे होंगे कि नहीं होंगे बच्चा अनाथ हो जाएगा कि क्या होगा पता नहीं वो बेचारा उसको बच्चा वहां जो पड़ा है उसके ऊपर बड़ी दया कृपा सब दृष्टि उसके ऊपर और उसको न गाड़ी से मतलब न राइट साइड रॉन्ग साइड से मतलब न डॉक्टरी से मतलब न सभी एक ही घटना को देख रहे हैं उस घटना के सर्वांगीण विवेचन कोई नहीं कर सकता कोई नहीं कर सकता तो सब अपनी अपनी सोच की तरीका अलग अलग होती है और वो अपनी वासनाएं कर्म वगैरह जो है उसकी है संस्कार है उसी हिसाब से उस चीज को देखेगा इसलिए आज के जो भी चीज खरीदारी बेच रहे क्या ग्रुप में जाते हैं हरा में हरा एंगल में देखे जैसे हम लोग एरोप्लेन खरीदना बेचना वगैरह अट्ठाईस लोगों का टीम होता है अट्ठाईस लोग जाएंगे कोई उसके बिजली का देख रहा है कोई उसका जो है शौचालय वगैरह का जो टॉयलेट व्यवस्था वगैरह देख रहा है कोई कुर्सियों को ही देख रहा है कैसा सेटिंग क्या बना है कैसे बना है कोई कुछ कोई कुछ अलग अलग अलग सब का काम अपना अपना रिपोर्ट देंगे और सारे रिपोर्टों में इकट्ठा किया जाता है तो उसके बाद निर्णय लिया जाता है कि हमारे देश के लायक है या नहीं आप लोग भी खरीदारी करने जाते हो अकेले जाओगे तो ठगे जाते हो आपको पता ही नहीं हर एंगल से देखना होगा नहीं अब दो है कम से कम वो वो अपने हिसाब से देखेगा अपने हिसाब से देखेंगे तीसरे एक से दो भला बोलते हैं खरीदारी के लिए वो जो दे दिया आपको बोलते बोलते बोलते आपके मन को घुमा देता है वो आप उसकी बात सुनेंगे कि अब चीज को देखेंगे ये बनिए बड़े एक्सपर्ट होते हैं आपको सोचने का अवसर नहीं देंगे बर बर बर बर बर बोलते रहेंगे ये ऐसा कंपनी ये है वो है वो अब उस, उसके सुनने में दिमाग लग जाता है हाँ ठीक है अच्छा है बोलेंगे आप लेके चले आएंगे और रहेगा डुप्लीकेट तो ये जो चीज है ना तो वही यहाँ पर कथन कर रहे हैं कि वास्तव में हमारी सोच ये है कि जगत कुछ ने और ने पैदा कर दिया परमाणु से पैदा हो गया बाहर है वो मेरे से अलग है नहीं वास्तव में सब कुछ आपता में परिकल्पित होने से आप पे ही कल्पित और आपने ही कल्पना किया आपकी अपनी कल्पना को बाहर देख रहे बहिर्व उद्भूतम है ना दृष्णामृत स्त्रोत्र में बहिर है भीतर और बाहर के समान आप अनुभव करते रहते इसीलिए आप ही वास्तव में क्या है सारे जगत का कारण इसलिए सर्वस्योनी भूताराम एवं प्रभुवश्चाप्तेय अतएव यथोक्तम सभेदम मैंने भेदे न सहितम सभेदम जगत प्रसूयते जिसलिए ऐसा है इसलिए पूर्वक जो भेद है इसी से ही प्रसुत होने के कारण से एश यो नहीं सर्वस्या यही समस्त जगत का कारण भी है यह तो एवं जिसलिए उत्पत्ति स्थान है तो स्थिति और लय का भी वही स्थान होगा एवं प्रभवश्चाप्यश्च प्रभाप्य ही नाम एश एवं इसे समस्त अन्य जीवों का भी जो अपने से बिना जीव मान रहे हो ये सारे जीव भी आपसे उत्पन्न हुआ आप नहीं गया सकल भूतों का भी आप ही उत्पत्ति और लय का स्थान है अति स्थिति का स्थान भी आप ही है इसे का प्रभवाप्ति ये जल्दी पछता नहीं ये बात है अरे ऐसे कैसा होगा हम ही जो है जगत को पैदा किए हैं है? हम ही ये सब बने हुए हैं कैसे मानेगा कोई अरे हम तो अपने माँ से पैदा हुए आप कहीं और से पैदा हुए किसी और माँ से हम हमसे कहा पैदा हुए आप है और आप तो आदमी आदमी से बने होगा कहीं ऐसा तो लोग तक देंगे वो आत्मा को पकड़ ही नहीं पाते क्योंकि बुद्धि स्थूल नहीं है ये बाह्य शरीर स्थूल शरीर की उत्पत्ति को लेकर विचार करते हैं लेकिन ये बाह्य स्थूल शरीर जो माँ है या पुत्र करके जो पैदा हुए हैं ये सभी कहाँ से हो रहे हैं उस गहराई तक नहीं जा सकता उत्पत्ति के समान जो अनुभूति हो रहा है इन सब का भी अधिष्ठान कौन है कहा ये सब अनुभूति हुई किसको अनुभूति हो रही है कैसे हो रही है इस पर कोई विवेचन कर पाए इसलिए आप तीन पादों का विचार करने के बाद कार्य का कार्य यहाँ से शुरू करते हैं चौथे पाद पर नहीं गए चौथे पाद पर जाने से पहले कारिकाओं को इन्हीं तीन पादों को सम्यक प्रकार जब तक नहीं समझेंगे आप तृतीय पाद तक पहुंच नहीं सकते वो भी तृतीय पाद ये जो बात है ना आप ही जगत का कारण है आप ही सर्वेश्वर है ये कोई मान्य को तैयार जीव को ईश्वर कह देगा तो सब लड़ जाएंगे कोई मान्य को तैयार नहीं इसलिए कारिकाकार उसको समझाने की प्रयास करेंगे पहले इन तीन पाद उसमें से भी तृतीय पाद को विशेष रूप समझना अत्यंत आवश्यक है उसके बिना तृतीय पाद को समझ नहीं सकते हैं अत्यते श्लोका भवंती ये गौर पाद कार्यकार का अपना पहला जो है पंक्ति है अत्र मन अस्मिन त्रिपाद आत्म विषय एते श्लोका मदकृताय कारिका भवंधी मेरे द्वारा बनाई गई कारिकाएं इसमें इसका विवेचन विचार व्याख्या करती है बहिष्प्रज्ञ बहिष्प्रज्ञो विभुर विश्व यंत प्रज्ञस्तु तेजस घन प्रज्ञ तथा प्राप्त एक स्मृत बहिष्प्रज्ञ विभो विश्व पहला पादाभिमानी जो विश्व है वह आपका व्यापक रूप जगत रूप दिखाई दे रहा है और बहिष्प्रज्ञ वाला है बहिर्विशेष प्रकृष्ण दी थी विषाणु प्रज्ञायंती थी बहिष्प्रज्ञा बाह्य विषय को ही जानने वाला जो है वह बहिष्प्रज्ञ है विश्व नाम सुप्रसिद्ध है वो व्यापक है प्रज्ञस्त जस उसको तुमने अपने व्यापक कैसे कह दिया सुपरिचिन अनुभव हो रहा है ये जो विश्व है ये हस्त तो हस्त पैर पार आदियों से परिचिन होकर एक छोटा सा पांच फुट का लंबा चौड़ा ढाई फुट चौड़ा ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है हमने कैसे भी वो कह दिया कद ही मनी यस्मान अयमेव योग प्रज्ञा सएव तेजस अंत प्रज्ञ कहते हैं भाई वही जो है ना अंत प्रज्ञा है जैसे बाह्य विषयों को देख रहा था और बाह्य स्थूल आकार रहित सूक्ष्म तत्सदृश विषयों को ही परिकल्पना करके उन विषयों को प्रत्यक्ष उपलब्ध जानने वाला ये अंत प्रज्ञ है जिसका नाम तेजस है इतना ही नहीं किंतु एक और बात जानने लायक है जो विश्वता वही तेजस है इतने बात से नहीं हुआ किंतु घन प्रज्ञ तथा प्राज्ञ जाए जितने जागृत की बहिष्प्रज्ञता और स्वप्न की जो अंत प्रज्ञता के विभिन्न ज्ञान थे अनंत वृत्तियां होती रही ये सारे के सारा ज्ञान भी जिसमें घनीभूत हो जाता है वह घन प्रज्ञ जो प्राग्ञ नाम से कहा जाए सुशक्ति वो भी वही है एक एक ही है उसी को विश्व कह सकता के नाम से तीन नामों से स्मरण किया गया है एक ही व्यक्ति यदि तीन कमरों में चला जाता है तो अलग अलग हो जाता है एक ही आदमी है जब वो अपने घर में अपने बिस्तर पर जाता है अपना बेडरूम में चला जाता है पत्नी के पास तो वहाँ क्या हो गया पति हो गया और वहां से निकल करके भागे बच्चों के पास बच्चों के कमरा में सुबह हुआ वहाँ पहुंचा लोग कहेंगे और बच्चे क्या कहेंगे पतिदेव कहेंगे नहीं वो कहेंगे पाप पिताजी कहेंगे नाम अलग है व्यक्ति वही है व्यक्ति तो वही है वहां से ऑफिस में बैठ गए हो अब इसमें कोई ना उसको पिताजी कहेगा ना पति कहेगा ऐसा आप कहेंगे ऑफिसर साहब है मैनेजर साहब है या तो है तो वही व्यक्ति लेकिन तीन स्थान भेद को लेकर के उसके तीन संज्ञाएं हो जाती है उसी प्रकार यहाँ भी वही एक आत्मा है लेकिन स्थान भेद है जब बहिष्प्रज्ञ हुआ उसका नाम विश्व पड़ गया जब अंत प्रज्ञ हो गया उसका नाम तेजस पड़ गया जब घन प्रज्ञ हो गया उसका नाम प्राज्ञ हो गया इसलिए कहते हैं कि देखो ऐसा प्रमाण क्या है कहते सर जगत का अनुभूति दृष्टान्त तो है ये श्रुति ने भी दृष्टान दिया महामत्स्यवत जैसे महामत्स्य एक तट से दूसरा तट की ओर जाता है आर पार कर जाता है नदी का इस तट के भी आनंद लेता है उस तट का भी आनंद ले रहा है और बीच का भी आनंद लेते रहता है लेकिन किसी भी उसका कोई संबंध नहीं ना वो इस तट का अभिमान करता है ना उस तट का अभिमान करता है बीच का अभिमान करता है उसी प्रकार से आत्मा जो है विश्व तेजस प्राग चारों तरफ घूमता है तीनों इस, अवस्थाओं में घूम रहा है लेकिन फिर भी वो इन तीनों अवस्थाओं से भिन्न असंभव असंग है ये बात दृष्टान दिया है देखो बताएंगे भाष्यकार पर्याय न त्रिस्तान पर्याय न क्रम से तीनों तरह एक काल आचरण में रह नहीं सकता ऐसे तीनों कमरा में एक काल आचरण रहेगा क्या एक ही आदमी नहीं तो तीन शरीर बनाना पड़ेगा उसको उपाधि बिंदु तो हो ही गया था अभी एक ही उपाधि को लेकर एक ही व्यक्ति तीन स्थानों में एक काला बच्चे देना नहीं रह सकता इसलिए कहते हैं तीन स्थान वाला वो भी कैसे और न क्रम से जा करके स्वहम इति स्मृतिया स्मरण भी तो है प्रमाण वही जो मैं वहां बेडरूम में था वही मैं यहाँ बच्चों के कमरे में हूँ वही मैं वहां ऑफिस में हूँ ऐसा अनुभव तो करेगा ना वो स्वयं करके अनुभव करता है अतः स्पष्ट है कि वो भिन्न नहीं स्थान भिन्न हुए लेकिन मैं भिन्न नहीं हूँ ये उसको निश्चय रहता है स्वयं की स्मृतिया प्रतिसंधान छ इस स्मृति के द्वारा प्रतिविज्ञा के द्वारा वो विषय कर लेता है अपने आप को अभिन्न रूप में विषय कर ले रहा है दोनों अवस्था में विद्यमान सो मई हूँ ऐसे करके अवस्था द्वय परिच्छिन्न व एकत्व अनुभव करता है स्वयं को विषय कर ले रहा है स्थान व्यतिरेकत्म और इतना ही नहीं और अनुसंधान करते ये भी निश्चय कर रहा है मैं न उस स्थान का हूँ मैं न इस स्थान का हूँ न उस स्थान से मेरा संबंध था न इस स्थान संबंध है किसी भी स्थान से मेरा कोई संबंध नहीं सभी स्थानों में घूमने वाला हूँ फिर भी किसी भी स्थान से कोई संबंध नहीं होता मोह नहीं होता ममता नहीं होती कठिन है मोह ममता तो होता है लोगों को अपने अपने सामान को नहीं होता है मेरा मेरा आश्रम मेरा कमरा मेरे सामान मेरा ये वास्तव में नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए है इसमें एक बार ऐसे ही हुआ चेतन गिर जी महाराज जी दुकानेर से आ रहे थे चतुर्माश करके आ रहे थे चतुर्माश तो आप जानते हैं बहुत ही लंबा चौड़ा गटरी होता है पैसों का भी कपड़ों का भी बर्तन तर्तन दुनिया भर चीजें बहुत मिलते हैं ना माल पानी पर सारा था और फर्स्ट क्लास डिब्बे बुकिंग करके उस समय तो ऐसी पेसी था ही नहीं फर्स्ट क्लास के डिब्बे होते थे फर्स्ट क्लास में बैठे हैं तो सामने गौर सेठ जी वो एक केस लिया हुआ था और गुजर था नहीं उसके पास कुछ एक केस था बिजनेस से जा रहा था तो दिल्ली और उसने महात्मा जी को देखकर बोलने लगा महाराज जी तो आप तो हमसे क्या समझ में नहीं आता इतने सारे माल दाल बटोर के गटरिया बांध की तरह लेके चल रहे हो कैसी मार हम देखो एक फिर आप गृहस्थी उनसे भी चढ़ाने के लिए चार आदमी आए वहां उतारने के लिए चार आदमी जरूरत पड़ेगा अगर जरूरत तो आएंगे आपके वहां भी क्या ले जाओगे सब लेके क्या करोगे महाराज सुनते ठीक है बोलो तुमको जो बोलना फिर सत्संग करने लगे उसको समझाने लगे नहीं ऐसा नहीं होता है तुम तो अभी समझते नहीं हो संतों का स्वभाव क्या होता है क्या को मेरता शहर के स्टेशन क्रॉस होने के बाद कुछ खराबी रही होगी वो खड़ा हो गए लाइन में हो जाता ना गड़बड़ कुछ रिपेयर हो रहा होगा कुछ होगा खड़ा कर गर्मी के परेशान तो दोनों के दोनों उतरे उतर के नीचे बैठ गए सत्संग चल रहा है चल रही है आपका परमात्मा का चिंतन चल रहा है शास्त्र कर बोल रहे हैं महाराज के और सुन रहा है वो प्रश्न पूछ रहा है इतने में ट्रेन चल पड़ा अरे पकड़ लिया सेट को अरे रुक जाओ ना इतना बढ़िया सत्संग चल रहा है क्या भाग रहे हो तुम सुनो उगे तो कष्ट अरे महाराज हमारे सूट गए अरे तेरी सुटके जैसे तैसी मेरी इतनी सामने छोड़ रहा तेरे सुटके क्या मतलब तेरे तो ये सुटके जा रहा है ना मेरे इतनी सारे घटने जा रहे हैं तो परेशान क्यों हो रहा है देखो और कहा बैठता हूँ कूद फाड़ फाड़ महाराज जी पीछे पीछे आ गए आप समझ में आई तुमने और हमें फर्क क्या है तुम्हारे लिए एक सूटकेस है ना सारा संसार है हमारे सारा संसार भी घास बराबर है हमारे तुम्हें ये अंतर है तो पक्का चेला हो गया महाराज जी कहेंगे लोग समझते हैं नहीं इस चीजों को ना मोम माया कहाँ है कितने हैं व्यवहार तो करना ही पड़ता है हाँ भाई मेरे साथ है मेरे सामान है हम जा रहे हैं मेरे साथ चल रहे हैं तो इसमें ये नहीं उसके अंदर ममता है व्यवहार तो करेंगे मेरा आश्रम भाई उपाधिक व्यवहार तो होगा ही थोड़े किसान जा रहे पाल खाने जा रहे हैं अरे आश्रम भी तो जा रहे किसी आश्रम जा रहे हैं कहोगे तुम मेरा आश्रम जा रहा और पर आश्रम में जा रहा हूँ कहोगे क्या व्यवहार तो व्यवहार है व्यवहार में तो शब्द ऐसे बोलने पड़ेंगे इसका मतलब ये नहीं हम ममता है मोह ममता ऐसी बात नहीं दृष्टि व्यक्ति की अपनी पहुंच पर सब निर्भर है इसलिए दृष्टान दे रहे हैं यहाँ शुद्धत्म एकतम शुद्धत्म असंगतम च सिद्धम इति अभिप्राय स्थान त्रय से भिन्न जो एकत्व वह शुद्धत्व असंगत्व ये सारी बातें सिद्ध हो जाती महामत्स्य दृष्टांत श्रुदय है और प्रधारण्यक में महामत्स्य आदियों का दृष्टांत भी दिया गया है प्रधान परिषद का दृष्टान्त ही है एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है उसमें भी मोह माया के एक और भी ऐसे ही दृष्टांत आता है एक बार एक चूहा ने मित्रता कर ले मेढक से दोनों की मित्रता हो गई चूहे की और मेढक की और मेढक ने कहा भाई हमारी मित्रता इतनी घनिष्ठ है अब हम दोनों अलग नहीं होनी चाहिए जहाँ भी रहे साथ में रहे साथ में चले साथ में खाए साथ में पिए जो मिलेगा आपस में बांट के खाए ठीक है भाई यानी कैसा होगा तुम तो बड़े तेज भाग जाते हो मैं कुछ कुछ गाता हूँ तो कहा गायब हो जाता है इसलिए जो है हम दोनों को एक उपाय किया जाए उन्होंने कहा ठीक है दोनों को पैर आपस में बांध दिया पीछे का पैर बांध दिया इसका पैर पीछे के पैर से फूट से उसने बांध दिया किसने चूहे बांध दिया ठीक है दोनों रह रहे खा रहे पी रहे घूम रहे फिर इतने में एक दिन जो है कोई चील आते ना चील वो आया उसको देखे सब गुरु घबरा चूहा वगैरह दोनों घबरा अच्छा मारे खाएगा ये तो उठा के ले जाएगा और डर के मारे जो है वो किसने मेढा का नहीं कूद के पानी कूद गया नदी अरे जो परेशान चिल रहा है अरे तो कैसा मर रहा हूँ मर रहा हूँ अरे तुम मरता है हमारा क्या था मैं तो अपने बचा लू और वो नतीजा क्या हुआ वो तो बेचारा छह छा छह दस डुबकी के बाद छुआ मर गया मरेगा तो तैरेगा ना वो मरा हुआ मुर्दा तैरेगा वो तैरने लगा धीरे तैर एक चीज ने उसको उठा लिया जब उसको उठाया तो पैर बंदा हुआ था ना मेढक भी गया साथ और दोनों को मार के खाया ये हम जिसका मोह करेंगे ना वो भी तो मरेगा ही हम भी साथ मर जाएंगे साथ साथ हम भी कहे गुरुचरण चला नरक में ठेलम खेला इसलिए कहा गया है दोनों जाएंगे बंड बाढ़ में यदि मोह ममता करेंगे तो एकदम मोह ममता से बच के रहना चाहिए नहीं तो वही चूड़ा और मेड़ की कहानी बन जाएगी और ये यमराज छोड़ेंगे है ही नहीं अज्ञान तो छोड़ेगा नहीं माया तो छोड़ेगा नहीं संसार में डुबा कर देगा दोनों मरेंगे तो इसलिए बच के चलना चाहिए स्थान तय का किसी भी स्थान का किसी भी विषय के साथ व्यवहार जरूर करो लेकिन मोह ममता मत करो दक्षाक्षी मुखे विश्व मनस्यंतस्तुत आकाशे च हृदय प्राज्य देहे व्यवस्थित दक्षिणाक्षी मुखे विश्व कल इस विश्व पूरे शरीर में है ना लेकिन उसको एक स्थान बताओ जहां उसकी ध्यान कर सको उपासना कर सको कहते उसके लिए इस विश्व का अभिमानी का प्रमुख स्थान कौन है दक्षिणाक्षी दायने आंख में विराजमान है मनसी अंतस्तुत जसा और तेजस को अंदर मन के भीतर देखो मनसी अंत मन के भीतर है और प्राज्ञ को कहा ढूंढो हृदय आकाश है हर अवच्छिन्न आकाश में प्राज्ञ अपने स्थान तय है कहा स्थान तरह से भिन्न है और स्थान तरह कौन है कहा मैं इसको ढूंढूंगा सब इसी शरीर में लग रहा है सो का रहा हूं इसी शरीर में जगह का हो तो इसी शरीर में प्रकार देख रहा हूं इसी शरीर में इन तीन अलग स्थान का एक ही शरीर है एक स्थान हुआ ना तगड़े नहीं नहीं तीन स्थान इस एक में तुम्हारी भ्रांति है यहाँ तीन अलग अलग स्थान है जहाँ पर तीन जगह पर आत्मा का विशेष संबंध होकर अभिमान होता है वह पहला स्थान दक्षिणाक्षी दूसरा स्थान अंतकरण जो मन है तीसरा स्थान हृदय आकाश तीनों ही इसी एक शरीर के अंदर है बाहर नहीं कोई